параграф 7. Упражнение. Читайте следующие предложения. ये क्या है ये क्या चीज है ये किताब है क्या ये दीवार है वो कौन है वो गोपाल है वो मेरा मित्र राम है वह कल आया ये आदमी रूसी है इसका नाम अंतोन है वो औरत हिंदुस्तानी है उसका नाम शीला है क्या ये तेरा मित्र है क्या वो मेज है बच्चों सच बोलो अब तुम जाओ आइए बोलिए सुनिए